तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति ऋग्वेदीय ऐत्रोपनिषद अवतरण भाष्य को विचार चल रहा था कुछ लोगों की शंका थी शंका ये थी ननु यथा पुत्रादि संबंध नियम रहित प्रणमते धारणार्थ में भिक्षु परिग्रह व्यावता हो भिक्षाटिदा एवं नियमो अंगीक्रियते तथा गृहस्थ्यापि विमान शून्य से सतो देहधारणार्थम गृह अस्तु आसनम न भिक्षुकत्व विशेषात शंका एक शंका है जैसे आपके मत में पूर्वादि शंका करता है जैसे आप सिद्धांत के मत में पुत्र आदि के संबंध रहित जो सन्यासी है सबको छोड़ के आया हुआ है पत्नी पुत्र आदि संबंध न हम कश्यचित न मैं कश्चित करके बैठा हुआ है मेरा कोई नहीं मैं किसी का नहीं ऐसा बैठा हुआ सन्यासी उसका भी आपके मत में ऐसा देह धार देह की रक्षा तो चाहता हो वो परिवार छोड़ दिया देश छोड़ दिया सब छोड़ दिया शरीर की रक्षा तो चाहता है देह रख देह धारणार्थी हो केवल शरीर धारण करना उसका काम है इसके भिक्षु ऐसे भिक्षु का परिग्रह व्यावर्तन उस स्थिति में दो तरह से देहधारण हो सकता है परिग्रह पूर्वक हो सकता है अथवा भिक्षावृत्ति से हो सकता है दो है वहां तरीका उसमें से भिक्षा दी गई द्वारा देह धारण करना चाहिए सन्यासी को परिग्रह नहीं करना चाहिए ऐसा नियम है उसको जैसे सन्यासी के लिए नियम है परिग्रह व्यावर्तनार्थ परिग्रह को व्यावृत्ति करने के लिए भिक्षाटन आदि ना एवं नियम भिक्षाटन आदि के माध्यम से ही जीविका चलानी चाहिए अन्य नहीं परिग्रह नहीं ऐसा कहा है आपके यहां ऐसा स्वीकार किया जाता है माने परिवार आदि का संबंध तोड़ करके आया हुआ है देह की रक्षा तो करती है जब तक जीवन है उसके लिए परिग्रह पूर्वक देह धारण करना है अथवा भिक्षा वृत्ति से करना है तो नियम बनाया सन्यासी के लिए भिक्षा तना बिना एवं देह धारण कर ऐसा नियम है आपके मत ठीक इसी प्रकार यहां भी कोई कुछ लोग ऐसे हैं कि घर में ही रहे अभिमान शून्य हो जाए अभिमान शून्य होकर घर में रहे वो भी देह के लिए रोटी मिल जाएगी घर में इतने के लिए घर में रह जाए क्यों संन्यास्त होना ऐसा एक शंका है एक बोला था तथा उसी प्रकार गृहस्थ्या आदि गृह में स्थित है गृह तिष्ठती गृहस्थ गृह में रहता है अपने घर में रहता है रहने वाला का अभिमान शून्य से उस पुत्र वित्त आदि में अभिमान नहीं है घर में रहता है परिवार के साथ कोई अभिमान नहीं परिवार का अभिमान नहीं अभिमान से निश्चय तो ऐसा होता हुआ देह देहधारण देह धारण उसको भी करना है इसके लिए गृह वस्तु आश्रम घर में ही रहे वो न भिक्षुकत्व भिक्षा के लिए मैंने सन्यासी न बने घर में रहे देह धारण तो करना है उसको भी अभिमान शून्य जैसे सन्यासी का अभिमान शून्य है ये भी घर में ही है किंतु तो अभिमान शून्य है तो अभिमान शून्य होने पर तो घर तो में ही रह जाए देहधारण के लिए वही बनी बनाई रोटी मिल जाएगी तो भिक्षुकत्व मैंने संन्यास आश्रम करने का आवश्यकता नहीं ये पूर्वादि शंका यही शंका है अविशेषा कोई विशेष नहीं है समान है दोनों के लिए नियम है भिक्षाटन आदि वहां नियम है माने देह धारण करना नियम है उसके लिए भिक्षाटन करता है घर में बैठ के खा रहा है अभिमान रहित देहधारण दो दो नियम दोनों के लिए बराबर है अभिमान रहित दोनों में है और धारण इन दोनों को करना है सन्यासी को भी इसको भी करना है अभिमान रहित वो भी है ये भी है समान है तुल्य तुल्य होने से तो घर में रहे संन्यास ग्रहण क्यों करता है विक्षुप क्यों बनता है ये शंका है भाष्य में कहा अत्र केचित गृहस्था कुछ गृहस्थ लोग हैं ऐसे बोलने वाले क्या बोलते हैं भिक्षाटन आदि भयात क्यों बोलते हैं भिक्षाटन करके खाना बहुत मुश्किल है तिरस्कृत जीवन होता है सब जगह आपको सम्मान पूर्वक भिक्षा नहीं मिलने वाली भिक्षाटनादि भयात परिभाच तिरस्कृत होने का भी डर है निंदा करेंगे लोग इतना हट्टा कट्टा है कमा के नहीं खा सकता है पृथ्वी का बोझ बना हुआ है ऐसे ऐसे बोलने वाले मिलेंगे ये सारा भय है भिक्षाटनादि करने का भय है अथवा तिरस्कार का भय है इसके बाद त्रस्यमाना डरते हुए कुछ लोग ग्रस्त लोग सूक्ष्म दृष्टांतर संतम उत्तराण उतरा सूक्ष्म दृष्टि का व्यतिरेकी भाषा में बोला है ठूल दृष्टि वाले दृष्टि ऊपर ऊपर से देख रहे हैं ऐसे करके एक उत्तर देते हैं ये क्या कहते हैं उत्तर ये देते हैं जैसे भिक्षु को भी तो नियम है ना भिक्षाटन आदि के द्वारा ही जीवन निर्वाह करना है संबंध काटा है उसने संबंध छोड़ दिया गृह का संबंध छोड़ के आया हुआ दूर देश में है जैसे भिक्षु का भिक्षु भिक्षाटन आदि नियम दर्शनार्थ भिक्षाटन आदि के नियम देखा गया है देह धारण के लिए भिक्षाटन आदि करेगा वो भिक्षु का भी देखा है इसलिए देह धारणा मात्र आर्थिन जो देह धारण मात्र चाह रहा है ऐसे सन्यासी भिक्षु का भी नियम देखा करना भी देहदादि के लिए ठीक इसी प्रकार गृहस्थ जो गृहस्थ है साध्य साधन ऐसा उभय साध्य साधन दोनों है स्वर्ग आदि के लिए साधन भी नहीं करता स्वर्ग आदि भी नहीं चाहिए हाँ, अग्निहोत्र आदि भी नहीं करता ऐसा साध्य साधन ऐसा दोनों से साध्य की ऐसा साधन की ऐसा जब साध्य की इच्छा होती तो साधन की इच्छा होती है जो साध्य की इच्छा है साधन इच्छा की जननी है स्वर्ग की इच्छा हो गई तो ये आदि करने लग जाएगा साध्य की इच्छा जो होती है फलेच्छा हाँ वो साधन इच्छा की जननी है फल की इच्छा होती है तो साधन संबंधी इच्छा होती है करूं क्यों इससे वो मिलेगा तो ऐसा एक गृहस्थ है साध्य साधना ऐसा उभय विदर्भ साध्य और साधन ऐसा इच्छा साध्य साधन की इच्छा संसार दो ही प्रकार के साध्य और साधन रूप में है ये वो मेरा साध्य होगा ये मेरे साधन होगा इसके द्वारा उसको प्राप्त करूं ये दो ही होते हैं ऐसे साध्य साधन इच्छा से रहित जो होगा गृहस्थ देह धारण मात्र अर्थम केवल देह धारण ही करना उसको देह रक्षा के लिए असना आच्छादन मात्र उपजित है केवल भोजन और आच्छादन भोजन वस्त्र मात्र भी जीवन चलना चाहता है इतने मात्र के लिए उपजीवित जीने वाले का गृह व अस्तु आसन घर में ही आसन हो क्यों भिक्षु बने सन्यासी को बने संन्यास आश्रम में क्यों जाए गृहस्थ में रहते रहते ही यह श्वास से मुक्त हो जाए होकर के रहे तो वही रहे वृद्धावस्था में क्यों जंगल में जाना सन्यासी बनना दूर देश में क्यों जाना ऐसा कुछ लोग कहते हैं किंतु सिद्धांत की ओर से बोलते ना तो ठीक नहीं होगा तो गृह में रहना माने स्वगृह विशेष परिग्रह निवश्य काम करता स्व गृह शब्द का अर्थ पत्नी का परिग्रह उसका है कि नहीं पत्नी का संबंध छोड़ दिया कि साथ में है अभी यदि गृहस्थ बोलते हैं तो पत्नी साथ होगी तो स्वगृह विशेष परिग्रह नियम स्वगृह विशेष परिग्रह नियम जो है स्वगृह विशेष का तो पत्नी करेंगे स्त्री संबंध नियम से काम प्रयुक्तत्व इच्छा प्रयुक्त है क्यों पत्नी ग्रहण क्यों किया उसने पत्नी का ग्रहण इसलिए करता है पुत्र की इच्छा है उसको साध्य की इच्छा है सुना हुआ है पुत्रे न एम लोग को जहिया नान्य ने करवा पुत्र के द्वारा ही श्लोक की जीतना चाहिए अन्य कर्मों से नहीं होगा ऐसा आया सुना है तो पुत्र चाहिए तो पुत्र प्राप्ति के साधन पत्नी है इसलिए पत्नी के साथ विवाह करता है स्वगृह विशेष परिग्रह निवश्य काम द्वारा एतावान वही काम ऐसा कहा हुआ इतना ही काम है ऐसा कहा है यह साध्य साधन भाव की इच्छा को ही काम करके कहा है संसार में दो ही रूप होते हैं साध्य और साधन में हर वस्तु कोई किसी का साधन होगा कोई साध्य होगा ये तो हम वही काम इतना ही तो काम है यही इच्छा है ऐसा कहा है इसलिए ये उत्तर दे चुके हैं पहले पूर्व पृष्ठ में उत्तर दे चुके हैं कहा काम प्रयुक्तत्वाद अच्छा टिप्पणी में कहा तथा तो गृह समय से जो गृह में जो रहना है उसका काम मूलक इच्छा मूलक है पत्नी रहेगी रोटी पानी देगी इतना इच्छा है उसको तत्सत्य काम सत्य साध्य साधन इत्यादि उक्त विशेषण दो अनुपति साध साधन दोनों से रहित बोल नहीं सकते हो साध्य साधन ऐसा वह बिना मुक्त से नहीं बोल सकते हो यदि कामना है तो ये कहा यथोक्त विषय मत्व गृहासन अगर साध्य साधन से वास्तव में अलग हुआ है साध्य साधन ऐसा वह मुक्त है तो घर में रहना बनेगा ही नहीं घर में नहीं रहेगा भाष्य में आगे कहते हैं स्वगृह विशेष परिग्रह भावे चाह यदि अपने गृह का परिगृह गृह नहीं है मेरी पत्नी है पुत्र है ऐसी भावना नहीं है रहते हुए संबंध कटा हुआ वास्तव में ऐसा है तो स्वगृह विशेष परिग्रह भावे शरीर धारण मात्र प्रयुक्त असन आच्छादनार्थी न स्वपरिकर विशेष अभाव अर्थात विक्षुत्रम उस स्थिति में अगर केवल केवल शरीर धारण मात्र वो भिक्षासन आदि में है तो अर्था से निकलेगा भिक्षु की है अगर वहां से संबंध कटा हुआ है ये मेरे नहीं है ऐसे बुद्धि वास्तव में हो गया है ममता कट गई है वास्तव में तो अर्थ से भिक्षु की हो फिर वो सन्यासी काल कहलाएगा न लिंगम धर्म कारण आया है मुख्य सन्यासी है अगर संबंध कटा हो किंतु संबंध कटना इतना सरल नहीं है बोलना सरल होता है हम लोग कितने वर्षों से उस परिवार को छोड़ दिया उस गांव को छोड़ दिया उस देश को छोड़ दिया और दूर देश में बैठे हुए हैं फिर भी यहां बैठ करके चिंता कर रहे हैं एक फोन आता है तो तुरंत जाते हैं माँ बीमार है भाई बीमार है अरे जब सब तिलांजलि दे के आए हो सबके लिए हवन करके ब्रिजा हवन में सब समाप्त करके आए हो फिर भी चिंता हो तो घर में रहते हुए कैसे वो संबंध कटेगा उसका तो साधक कोटि में आए हुए लोग हैं वर्षों से उस परिवार को छोड़ा हुआ है तो फिर भी आज संबंध बनाया हो भीतर से वो संबंध बनाते कि नहीं बनाते पता नहीं यहां से संबंध बनाया हुआ है वो मेरे हैं कहने वो मेरा है बोलते कि नहीं बोलते पता नहीं पता नहीं किंतु यहां से मेरा करके बैठा हुआ है इतना संबंध है करके बैठा है तो घर में रहते हुए संबंध कैसे कटेगा नहीं कर सकता इसलिए संन्यास आश्रम आवश्यकता है ये बोलना चाह रहे हैं अगर स्वगृह विशेष का परि, परिग्रह का अभाव है वास्तव में पत्नी आदि में ममता नहीं है संबंध कटा हुआ है वास्तव में तो उस स्थिति में शरीर धारणा शरीर धारण मात्र प्रयुक्त केवल शरीर धारण मात्र में प्रेरित होकर के भोजन और आच्छादन चाहता है भोजन और वस्त्र चाहता है इतने अर्थ है स्व परिग्रह विशेष अभाव है परिग्रह विशेष पत्नी आदि के संबंध का एक वास्तव में अभाव हो तो अर्थ से भिक्षुक आ जाएगा भले वो उसी वस्त्र में उसी वहीं है तो वास्तव में सन्यासी हो जाएगा अर्थ से भिक्षुक ही आएगा सन्यासी होगा दूसरे पूर्वादि एक शंका करता है वो घर में बैठा हुआ है परिवार से संबंध नहीं है अलग संबंध मान संबंध कटा हुआ है साध्य सावन ऐसा से मुक्त है बैठा है फिर भी उसको अग्निहोत्र तो करना पड़ेगा नियम है यावत जीवित अग्निहोत्र किया जीवन है उसका अग्निहोत्र करना पड़ेगा जैसे सन्यासी के लिए नियम है सब संबंध कटा हुआ है फिर भी तन के द्वारा ही वृत्ति आर्जन करना चाहिए और शौचादि के बारे में नियम है सन्यासी के लिए पवित्रता के बारे में नियम नियम है उसी प्रकार उसके लिए भी नियम हो जाएगा अग्निहोत्र यावत जीवित ये ये दूसरे है पूर्व पक्ष बोलता है शरीर धारणार्थायाम भिक्षा प्रणालीसु प्रवितव यथा भिक्षु हो शौचा बहुचा जैसे भिक्षुक का नियम है सन्यासी का नियम है शरीर धारण करना उसका उद्देश्य और कोई प्रयोजन नहीं है इसके मात्र के लिए कि भिक्षा आदि में प्रवृत्ति में नियम है माने परिग्रह पूर्वक भी खा सकता है वो देह धारण कर सकता है भिक्षाटन करके भी देह धारण कर सकता है किंतु भिक्षा देना एवं वृत्तिम कुरिया ऐसा वाक्य है भिक्षाटन आदि के द्वारा ही जीवन निर्वाह करना चाहिए परिग्रह के माध्यम से नहीं ऐसा नियम है सन्यासी के लिए दूसरी प्रकार दूसरी बात शौचादि में भी नियम है शौच आदि में मिट्टी कितने बार लगाना है इसके भी नियम है सन्यासी के लिए साबुन नहीं मिट्टी साबुन से कभी शुद्धि नहीं होती मिट्टी से शुद्धि मृतिका के बारे में विचार है शास्त्र में इसी प्रकार जैसे उसके लिए नियम है देहपात्र धारण वाले भिक्षाटन में प्रवृत्त नियम है और शौचालय में नियम है सन्यासी के लिए जैसा नियम है उसी प्रकार गृहिण होगी घर में बैठा हुआ है साध्य साधन योजना से मुक्त है संबंध कटा हुआ है ऐसा कोई है गृहिण होगी को भी विदुषो ज्ञानी गृह है वो विवेकी है का अकामिन हो कोई किसी की कामना नहीं स्वर्ग आदि की इच्छा नहीं है ऐसे को अस्तु नित्य कर्म उसको नियम प्रवृत्ति उसके लिए तो जीवन है उसका नित्य कर्म प्रवृत्ति हो यावत जीवादि श्रुति नियुक्त क्यों यावत जीवेद अभिनेत्र जुयाद इस वाक्य के द्वारा नियुक्त है वो होने से प्रत्यवाय परिहाराय जैसे सन्यासी के लिए भिक्षाटन के द्वारा ही जीवन निर्वाह करना होगा शौचादि वित्तीय आदि के लगाना जिस प्रकार उस प्रकार से जीवन निर्वाह करना होगा क्यों प्रत्यय नहीं तो पाप पाप लग जाएगा प्रतिवाद परिहार के लिए ठीक इस प्रकार जो गृही होगा वो भी विद्वान है विवेकी है साध्य साधना ऐसा से मुक्त है ऐसे होने पर भी नित्य कर्म में नियम पूर्वक प्रवृत्ति होनी चाहिए क्यों क्या वो जीवादी श्रुति है नहीं तो उसको प्रतिभा पाप लगेगा श्रुति बोल रही है जब तक जीवन है अग्निहोत्र करे ये नहीं करता है तो प्रतिभा लगेगा पाप लगेगा अग्निहोत्र करना चाहिए करना होगा ये पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं ये तत् योगा विषय विदुषा प्रत्युत्तम अशक्य नियोगत्वाद ये जो सन्यासी के बारे में आपने कहा भिक्षा तनादि में नियम है शौचादि में नियम है करके कहा वास्तव में जो विद्वत सन्यासी होगा उसके लिए कोई नियम नहीं है ये सारा नियम किसके लिए विविधिशु सन्यासी के लिए अभी वो परोक्ष ज्ञान लिए बैठा है परमात्मा का अप्रोक्ष नहीं हुआ है उस काल में उसको परमाश्रम विहित कर्म करना होगा किंतु विद्वत सन्यासी जो है अप्रोक्ष आत्मज्ञान होकर के बैठा हुआ है ज्ञानोत्तर उसका कर्म त्याग है उसके लिए सारे कर्म की आवश्यकता करता है तो कोई आपत्ति नहीं हाँ न करे तब भी कोई उसको पाप नहीं है करने से कोई अतिशय भी नहीं उसके लिए नहीं बतस्य कृतय न अर्थो न कृतय न कचन न चाश्य सर्वभूतेशु कश्चित अर्थ प्रवास है अगर विद्वत सन्यासी है वास्तव में उसके लिए नहीं ये कहना चाह रहे यही कहना चाहेगा यह तब वियोगा विषय तो नहीं ये जो आपने कहा ये बातें जो है जो नियम बताया भिक्षु को भिक्षाटन आदि के द्वारा ही अब जीवन निर्वाह करना चाहिए नियम है शौच आदि के बारे में नियम है कहा वो नियम इस सन्यासी के लिए कौन सन्यासी हमारे जैसे नहीं विद्वत सन्यासी की बात है जो ज्ञानोत्तर सन्यास है जिनका सर्वम फल इदम ब्रह्म में बैठे हुए हैं ये अभाव से अतिरिक्त है ऐसे सन्यासी के लिए आवश्यकता प्रत्युत्तम ये खंडन किया है अशक्य नियोगत्वाच करके खंडन उसके नियोग करना संभव नहीं है वो तो शास्त्र के भी जनक बना हुआ है ईश्वर भाव में पहुंचा हुआ है इसलिए उसका नियोग करना संभव नहीं है ऐसा पहले कहा था ये कहा टीका से देखें टिप्पणी एक दो नंबर की टिप्पणी विषय तथा च यथोक्त नियम जो नियम बताया आपने सन्यासी के लिए नियम कहा जैसे सन्यासी के लिए दो नियम है भिक्षाटन नियम है ये परिग्रह पूर्वक नहीं खा सकता है नहीं करना चाहिए भिक्षाटन के द्वारा ही जीवन निर्वाह करना चाहिए दूसरा शौचादि के बारे में उसी प्रकार ये जो गृहस्थ है साध्य साधन भाव से मुक्त हुआ गृहस्थ है किंतु उसके लिए अग्निहोत्र का नियम होना चाहिए या वह जीवन श्रुति है न तो प्रतिभा बनेगा ये कहा था ये नहीं लगने वाला है उस सन्यासी के लिए तथा यथोक्त नियमों विविदिशोर एवं भिक्षोरिति ये जो नियम बताया गया है भिक्षाटन आदि के द्वारा ही वृत्ति करे जीवन यापन करे और शौचालय के विषय में जो बताया हुआ है ये विविधेशु भिक्षु के लिए है सन्यासी दो प्रकार के हैं एक तो उस आत्म तत्व को यथावत जानना चाहते हैं परोक्ष ज्ञान है शास्त्रों के माध्यम से परोक्ष ज्ञान हुआ है किंतु अपने स्वयं में आत्मा हूं ये दृढ़ नहीं हुआ है ऐसी स्थिति को विविधिशु बोलते हैं उसके लिए वर्णाश्रम विहित कर्मों का परित्याग करके वेदांत श्रवण के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं जो आज के संन्यास परिपाटी है किसी गुरु के पास जा करके हाँ, विधिवत संन्यास का ये करते हैं विधिवत जो संन्यास होता है यह विविधिशु संन्यास विविधा संन्यास और जो अवैध संन्यास है स्वतः सन्यासी हो जाता हो उसके लिए कोई विधान की आवश्यकता नहीं विद्वत संन्यास ज्ञानोत्तर संन्यास ज्ञान हो गया तो कर्म का फल उसको चाहिए नहीं उपासना का फल चाहिए नहीं अहम ब्रह्मास्म में पहुंच गया है फिर क्यों कर्म करेगा क्यों उपासना करेगा इसलिए उसके साधन जो शिखा सूत्र है कर्म उपासना करने के लिए साधन वो सब परित्याग कर दिया वैदिक कर्म वैदिक उपासना का परित्याग कर देगा ये कहना चाहते हैं तो ये जो नियम बताया गया टिप्पणी कह रहे हैं सन्यासी के लिए जो नियम सन्यासी दो प्रकार के हैं सबके लागू नहीं है ये कहना चाहते हैं विविदिशो रे विवृक्ष हो यह नियम विविधिश विक्षुप के लिए है न विद्वान छठ्यो अत्र दृष्टांत इसलिए विद्वान माने जो विद्वत सन्यासी होगा उसको यहां दृष्टांत नहीं बना सकते उसके लिए भी भिक्षा आदि के नियम ऐसा नहीं है उसके कोई नियम अब भिक्षाटन करे कोई अपराध भी नहीं उसको न करे तब भी कोई दोष नहीं है कोई अधिशय भी नहीं है कोई दोष भी नहीं है निश्चय गुण नहीं पथि विचर रहा को विधि को निषेध वो तो तीनों गुणों के ऊपर की स्थिति में बैठा चल रहा है उसके कहा विधि कहा निषेध उसके विद्वत संन्यास यदि वास्तव में हो किंतु तो बनावटी नहीं करना चाहिए व्यक्ति को हम उसके आड़ लेकर के हम नहीं चल सकते हैं विद्वत सन्यासी के आड़ हम नहीं ले सकते हैं हमारे देहात्म बुद्धि गई हुई नहीं है शास्त्र के माध्यम से है जी परमात्मा है ऐसा पक्का नहीं हुआ है सुना है हमने उस स्थिति में हम है पक्का नहीं हुआ या हस्तामलग हो जाए मैं ब्रह्म हूं पक्का निर्धारित हो जाए ऐसा हो जाए तो फिर उसके लिए कर्तव्य कोई विधान नहीं कर सकता ये कहा ठीक है से देखें तेसाम न न्यायो मूलम कहते ये जो कह रहे हैं जैसे सन्यासी के लिए भी नियम होता है उसी प्रकार घर में कोई लोग बैठे हुए हैं घर में ही हैं क्या है जैसे सन्यासी के लिए भिक्षाटन आदि नियम है देह मात्र धारण करना चाहता है मान अन्य प्रकार से जीवन में भिक्षा से जीवन निर्वाह करना होगा नियम है उसी प्रकार साध्य साधन यशा से मुक्त है कोई फल नहीं चाहिए साधन भी छोड़ दिया साध्य की इच्छा साध्य की इच्छा नहीं तो साधन की इच्छा भी नहीं जाएगी साधन की इच्छा तब करेगा साध्य की इच्छा हो कुछ पाना हो तो कुछ करना चाहेगा इससे देह मात्र धारण करना चाहता है उसके लिए भोजन और वस्त्र चाहिए तो घर में ही आसन रहे क्यों वृद्धावस्था में परेशान होना घर में ही रहे ऐसे बोलते हैं वो बात ठीक नहीं कहना चाहते हैं तेसाम आयो बोलम युक्ति मूलक नहीं इनकी बात है टीका में बोला जैसा ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं उनके युक्ति मूलक नहीं है किंतु दृष्ट भय अधिगम में बोला प्रमाण मूलक वाक्य नहीं है इनका किंतु दृष्ट भय है भय देख रहे हैं वो हम घर छोड़ के बाहर जाएंगे तो तिरस्कृत जीवन जीना पड़ेगा लोग बोलेंगे बहुत कुछ करेंगे तिरस्कृत जीवन जीना होगा भिक्षावृत्ति करना कठिन है मांग के खाना बड़ा कठिन है तो ये उनके लिए दृष्ट भय ही कारण है ये बोलने की जो बातें बता बना रहे हैं भय दिख रहा है तो वहां संन्यास आश्रम में प्रवेश करने में भय दिखता है ये कहा उपासना आह ऐसे हंसते हुए कहा ये उत्तर देना चाहते कहा चाहते हैं भिक्षाटनादि भयात परिभवाच प्रश्यमाना इत्यादि सब उसे कहा था टिप्पणी थी न्यायो नौ की टिप्पणी नियम द्वे भी अविशेष किया जैसे सन्यासी के लिए नियम है उसी प्रकार इसके लिए नियम समान जो कहा वो नियम ये नियम में अंतर है ये दिखाना चाहते हैं परिभव क्या होता है तो कहते हैं परिभव पामरे क्रियमाण तिरस्कार जो पामर व्यक्ति यहाँ पे हैं उनके द्वारा जो तिरस्कार किया जाता है उसको परिभव कहते हैं माने चार प्रकार के मनुष्य होता है एक पामर होता है एक विषयी होता है एक मुमुक्षु होता है एक मुक्त होता है मनुष्यों को चार कोटि में विभाजन किया है पामर उसको बोलते हैं जिसको शास्त्रीय कुछ भी पता नहीं ज्ञान नहीं है लोक परलोक का ज्ञान नहीं स्वर्ग नरक आदि का ज्ञान नहीं जीव ईश्वर का पता नहीं कोई पता नहीं पशुबद्ध जीवन है पशु को उजाला होना पता लगता है अंधेरा होना पता लगता है अपने अपने आहार विहार में पता लग जाता है इधर अखाद्य है या खाद्य है जानते हो भी जानते हैं पशु प्रातकाल सूर्योदय होता है अपने जहां बैठे थे छोड़ के चले जाते हैं अपने अपने गंतव्य आहार विहार के लिए घूमते हैं दिन भर चले गए जब सूर्यास्त होता है तो अपने जगह पर आ जाते हैं वापस इतना ही जो जानता है दिन भर काम करना है खाना सो जाना पशुबद्ध जिनका जीवन है शास्त्रीय जीवन नहीं अशास्त्रीय जीवन है जिनका जिनको पामर कहते हैं यही लोग साधकों को निंदा करते हैं दूसरा होते हैं विषयी विषयी वो होते हैं थोड़ा दे करके ज्यादा लेने लोभी लोभी होते हैं जैसे यहां थोड़ा दान करेंगे स्वर्ग में बहुत कुछ मिलेगा जिसको इंद्र में धर्मात्मा शब्द से बोलते हैं माने काम में कर्म करने वाले जिस काम कर्म वाले को नहीं कहा काम में कर्म करने वाले विषय बड़ा विषय चाहते हैं उनको कहते हैं विषय दान पुण्य करते हैं क्योंकि कामना के साथ करते हैं या थोड़ा देंगे तो वहां इतना मिलेगा सौ गुना मिलेगा जैसे आंध्र प्रदेश में एक है ना भगवान हमारे कौन है ये तिरुपति बालाजी वहां के बारे में कहानी बनाई है लोगों ने कि वहां भगवान को एक बार पैसे की आवश्यकता पड़ गया भगवान विष्णु को ऐसी कहानी है वहां की भगवान विष्णु को पैसा नहीं दरिद्र हो गए अर्थव्यवस्था चाहिए तो उस पहाड़ में आकर के चंद्र डाल करके बैठ गए भगवान बैठ गए कहा जो है एक चढ़ाएगा उसको सौ मिलेगा ऐसा कहा अब ऐसा सुनने पर क्यों नहीं करेगा इतने ब्याज मिल जाए एक का सौ ले जाकर के हुंडी में डालना शुरू कर दिया वहां हुंडी रखा हुआ है अंधाधुंध डालना है जो दो नंबर ही धन होते हैं वहीं लेकर डाल देते हैं लोग क्यों वो भी सौ सौ हो गया आएगा एक का ऐसा है ऐसे करने वाले लोग जो होते हैं विषयी होते हैं यहां थोड़ा देने से स्वर्ग में बहुत मिलेगा ऐसे ख्याल है इसलिए करते हैं वो विषयी तीसरे होते मुमुक्षु है इस जन्म मरण जो संसार चक्र से मुक्त होना चाहते हैं को तो हम कस्तम को आया था इत्यादि बातें विचार करने लग जाते हैं मुमुक्षु मुक्त होने की इच्छुक को मुमुक्षु कहते हैं एक बुभुक्षु होता है भोग भोगने की इच्छुक है संसार में जाने की इच्छुक है बुभुक्षु दूसरा मुमुक्ष मुमुक्षु होना चाहते हैं तीस चौथे होते हैं मुक्त मुक्त पुरुष है जीवन मुक्त में बैठे हुए हैं तो चार प्रकार के होते हैं तो ये जो परिभव शब्द का अर्थ होता है पामरे क्रियमाण तिरस्कार तो पामर पुरुष होते हैं जो सबसे निचले स्थान पर हैं पशुवत जीवन जिनका उनको लोग तिरस्कार करते हैं करके डरते हैं ये लोग इसलिए संन्यास ग्रहण करना नहीं चाहते ये बोलना चाह रहे हैं सूक्ष्म दृष्टिराम कहा उसका अर्थ है काकुआ व्यतिरेक थूल दृष्टि काकू शब्द होता है व्यंग करने के लिए उल्टा बोलना जैसे साहित्य में बोला जाता है कुछ बोला जाता है कुछ होता है साहित्य की भाषा ऐसी होती है जैसे अपने मित्र बहुत घनिष्ठ मित्र हैं सामने दिखाई पड़ते हैं हम कहते हैं जाओ जाओ बोलते हैं वो इधर आते हैं वो क्या समझते हैं आओ आओ कहा अति मित्र होने पर हम ऐसे व्यंग करके बोलते हैं ऐसा बोलते हैं या अति दुष्ट व्यक्ति होगा उसको भी हम आ इधर आजा आजा बोलते हैं वो भाग जाता है उसने कहा जा जा बोला हुआ है मैंने साहित्य की भाषा है वे तो काकु शब्द भी व्यंग के लिए कहा अति थूल दृष्टि वाले हैं भाषा में सूक्ष्म दृष्टिता का उसका अर्थ थूल दृष्टि एक अनुकार काकू शब्द का तृतीय काकुआ है व्यतिरेकेण थूल दृष्टि ये की भाषा है उल्टा बोलना सूक्ष्म दृष्टि का अर्थ थूल दृष्टि वाले थूल दृष्टि है थूल विचार वाले इसलिए ऐसा सोचते हैं संन्यास ग्रहण में कहा दस ग्यारह की टिप्पणी दस में कहा वैपरीत्य द्योगता का स्वर भेदन हेतु ना यह हेतु काकुआ है विपरीत स्वरभेद हेतु तो काटुआ बोलते हैं कहा व्यतिरेकण माने विपरीत लक्षण विपरीत लक्षण के द्वारा ही करते हैं मानते हैं कहा आगे भिक्षाटनादि इति आत शब्देना भिक्षाटनादि भय कहा और क्या है कहते हैं भिक्षा भिक्षा करने जाना ही कोई आवश्यकता नहीं कभी कभी ऐसा होता है भिक्षा की तैयारी थी पहले किसी ने लाके एकाएक पहुंचा दिया तो भिक्षाटन करने की आवश्यकता नहीं वो प्राग प्रणीत बोलते हैं आपको पता नहीं था कोई लाएगा आपने फोन भी नहीं किया था कल भिक्षा ला देना ऐसा भिक्षा नहीं होती फोन करने बाद एक आय भिक्षा के समय होने जा रहा था जाने वाला था एक आय ला के किसने रख दिया प्राग प्रणीतम अयाचितम बिना मागे आया हुआ मागा कल आप भोजन बना के लाना ये अयाचित नहीं हुआ अयाचित वृत्ति की एक आय अयाचित वृत्ति और एकाएक आ जाए तो भिक्षा करने जाने की आवश्यकता नहीं इत्यादि कहा है वो आपके प्राग प्रणीतम अयाचितम इत्यादि इत्यादि गृहंते ये भिक्षा कनादि में जो आदि शब्द है तो आदि से ही लेना है प्राग प्रणीत है भिक्षा का समय था तैयारी थी जाने के लिए तब तक एक आए किसी ने लाके दे दिया उसी से उसका काम हो जाएगा उसमें भिक्षा नहीं जाएगा मतलब अयाचित वृत्ति है मांगा नहीं यजाय दे दिया किसी ने ला करके दिया वो अयाचित है इत्यादि प्राग प्रणीतम अयाचितम इत्यादि कहा टिप्पणियां हैं प्राग प्रणीतम स्वमात्र उद्देश्य न प्रणीतम इतिहावत यहाँ प्राग प्रणीत का अर्थ यह है पहले भी दे चुके हैं किसी को उसके बाद यहाँ लाया है केवल हमारे एक व्यक्ति का उद्देश्य करके नहीं बनाया गया हो उसको प्राग प्रणित कहा अयाचित माने देही इति अनुतम मुझे भिक्षा दे दो ऐसा नहीं कहा उसको अयाचित बोलते भिक्षा दे दो बोलने पर तो मारा आदमी वो याचित हो गया अयाचित वृत्ति भी होती है इत्यादि कहा इत्यादि नियम है ये सब नियम है सन्यासी के लिए नियम है देहधारण नो भिक्षुर इति कुर्बणान ये नियम किसके लिए जो देहधारण मात्र करना चाहता है भिक्षु सन्यासी उसके लिए जैसा नियम है उसी प्रकार का नियम इसके लिए भी है घर में ही रहे देहधारण मात्र चाहता है घर की रोटी खा करके बैठे रहे और ये भी तो कुछ चाहता नहीं वो जैसे भिक्षा मात्र चाहता है ये भी भिक्षा मात्र चाहता है क्यों सन्यासी बनना क्यों वृद्धावस्था में परेशानी उठाना ये शंका उनकी है तो सिद्धांत कहते हैं सिद्धांति तसे एवं भूतस्य स्त्री परिग्रह अस्थि नभा विकल्प आद्य दूषण सिद्धांति पूछते हैं वो इस प्रकार से बैठा है साध्य साधन उभय पेशा उभय विनिर्मुक्त जो तुमने कहा तो इस प्रकार से रहने का स्त्री परिग्रह है कि नहीं पत्नी का स्वीकार है कि नहीं उसके पास यदि पत्नी का स्वीकार है तो स्थिति में देहाधार मात्र वो नहीं है यथावान भाई कामना ये तो कामना है ये संसार को में है ये कहना चाहते हैं स्त्री परिकरो आद्य विकल्प आद्य दूसरा यदि स्त्री परिग्रह है ये मेरे हैं ये बना करके मुझे देंगे ऐसी भावना है मेरे हैं ऐसी भावना यदि है उस स्थिति में क्या होगा दोष देते हैं सिद्धांत ने कहा न स्व गृह विशेष परिग्रह निवश काम प्रयुक्तवाद इति उत्तोत्तरम अपना स्त्री परिग्रह आदि जो स्व परिग्रह गृह परिग्रह विशेष नियम है काम प्रयुक्त है इच्छा प्रयुक्त है यथावान भाई काम पूर्व में कहा इस बात को बता दिया इतना ही तो कामना है साध्य साधन की जो इच्छाएं होती है वह साधन बनाना चाहता है पत्नी को रहेगी तो भोजन खिला देगी यही उद्देश्य है उसका भोजन के साधन बनाना चाह रहा है तो काम है उसकी इच्छा है तो इच्छा गई नहीं उसकी ये कहा टीका में कहते हैं स्वगृह विशेष शब्द देना स्त्री विशेषो गृह थे या स्वगृह परिगृह स्वगृह विशेष का अर्थ है स्त्री विशेष स्वगृह विशेष शब्द देना स्त्री विशेषो गृह थे अच्छा और द्वितीय क्या कहेंगे यदि नहीं है स्त्री आदि के साथ संबंध नहीं है वास्तव में संबंध नहीं है घर में ही है संबंध नहीं है वास्तव में स्थिति द्वितीय स्त्री परिग्रह बता एवं द्रव्य परिग्रह अधिकार देखो जिसके विवाह हो गया पत्नी है तो उसके बाद में हमें परिग्रह करने की आवश्यकता होगी तो संतान आदि होंगे परिग्रह की आवश्यकता तो परिग्रह वहां से शुरू होता है जिसने विवाह किया तो उसके बाद परिग्रह करना शुरू करता है त्रिपरिग्रह बताए जिसने त्रिपरिग्रह किया है तो उस स्थिति में एवं द्रव्य परिग्रह अधिकार है उसी को द्रव्य का परिग्रह करने का अधिकार होने से तद अभाव स्त्री यदि नहीं है तो द्रव्य परिग्रह करेगा नहीं अर्थात द्रव्य परिग्रह निवृत्त है अर्थ से आ जाएगा द्रव्य परिग्रह की निवृत्ति हो जाएगी उसकी होने से तद अभाव है जब द्रव्य का परिग्रह नहीं है द्रव्य परिग्रह का अभाव होने पर प्रकारांतर में जीवन असिद्ध है फिर जीवन की असिद्धि रहेगी उसके काल में कैसे जीवन चलाएगा वो द्रव्य नहीं है उस स्थिति में सिद्ध अर्थात भिक्षाटन आदि नियम फिर उसके यही होगा कि भिक्षाटन ही करना पड़ेगा अर्थ से ही सिद्ध होगा फिर परिग्रह नहीं है तो द्रव्य अधिकार नहीं द्रव्य संग्रह करने का अधिकार नहीं द्रव्य संग्रह नहीं करता है तो जीवन नहीं चलेगा जीवन नहीं चलेगा तो भिक्षा पे नहीं करना पड़ेगा तो भिक्षु के अर्थ से भिक्षु की होगा यही सिद्धि कहा स्वगृह विशेष परिग्रह भावे शरीर धारण मात्र प्रयुक्त शरीर धारण मात्र के लिए के द्वारा प्रेरित हुआ जो असन और आच्छादन है भोजन और वस्त्र चाहिए उसको इसके चाहने वाले का स्व परिग्रह विशेष अभाव है अर्थात भिक्षुक कम देव भिक्षु की है किंतु स्व परिग्रह का परित्याग करना बड़ा मुश्किल होगा जो संबंध जहां बैठे बैठे संबंध काटना इतना मुश्किल जो संबंध छोड़ के आए कितने वर्षों से बैठे हुए हैं साधक बने हुए हैं उनके भी आज संबंध यहां से संबंध बनाया हुआ है वो संबंध बनाते कि नहीं बनाते पता नहीं वो नहीं बनाते हैं संबंध वास्तविकता है हम संबंध बना रहे हैं यहां से वो कभी नहीं कहा कि तुम यहां आ जाओ यहां से संपत्ति ले जाओ बोला हमको हमें नहीं बोला हम यहां से मेरे मेरे करके मर रहे हैं संबंध काटना इतना कठिन है जो छोड़ के आए कहने आने वाले हम संबंध बनाए हैं एक फोन आ जाए पहुंच गए कोई और यहाँ कोई बीमार होगा महात्मा बीमार होगा नहीं जाएंगे गुरु बीमार होगा नहीं जाएंगे किंतु इतना बड़ा रोग अपने को लगा हुआ है उसको छोड़ देते हैं ध्यान देने की बात है वहां सामान्य रोग की फोन आ रहे तो चले जाएंगे यहाँ रोग है भवरोग लगा जन्म मृत्यु रूपी रोग लगा हुआ है इस रोग से मुक्त होने की दवाई महात्मा दे रहे हैं दवाई छोड़ के जा रहे हैं संबंध काटना इतना सरल नहीं है ये कहा टीका में देखें न तो पुत्र पुत्रादि परिगृह तेरे जीवन वस्तु चलो पुत्रादि की कमाई खा करके जीवन रह जाए उसकी पुत्रादि पुत्र कमा रहा है पुत्र की कमाई खाए न तो पुत्रादि परिगृह तेना पुत्रादि के द्वारा परिगृहित धन होगा उसके जीवन वस्तु इतनी न संगम ऐसी शंका भी नहीं करना चाहिए तैरपी स्वस्य स्वत्व संबंध अभाव उनके साथ भी यदि संबंध नहीं है पुत्रों के साथ भी मेरे हैं करके संबंध नहीं है यदि वास्तव में तैरपी स्वस्य मैंने अपना स्वत्व मेरे हैं करके संबंध अभाव तभी जैसे अपनी परिकृत पुत्र का दिया होगा उस स्थिति में बात परिकृत भी तो होगा अपना नहीं होगा ये मेरे हैं बुद्धि नहीं है यदि तो पर की होगा दूसरे के तुल्य होने से तथा भी दूसरे के दिया होगा भिक्षु भी होगा वो दूसरे को ले दूसरे की संपत्ति ले रहा है भिक्षु की माना जाएगा भिक्षुक भिक्षुप तो नियमाद अन्य अन्य तो, अन्य कुछ ग्रस्त लोग आए हैं वो दूसरे प्रकार से शंका करते हैं अन्य लोग तो। भिक्षोरपी भिक्षाटनादो असम कृपदान इत्यादि नियम भिक्षु को भी एक नियम है सात घर में से भिक्षा लेके खाना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके मधुकरी जो बोलते हैं एक ही घर में लेने से उसकी परेशानी हो सकती है सात घर में थोड़ा थोड़ा लिया तो उनका भी ज्यादा रहानी नहीं होनी अपना भी जीवन चल जाएगा सप्ताहगारान सब सात घरों को जाना ये कहा है क्यों उनको परेशानी ना हो सप्ताहार असंकृतान संकल्पित ना हो वहां बहुत बढ़िया भोजन देता वागत वहीं जाऊंगा संकल्प करके लिए गया वो आपकी काम नहीं करेगा वो भिक्षा नहीं मानी जाएगी संकल्प नहीं भिक्षा का समय होगा जिधर चलना एक तरफ चल दिया चारों दिशाओं में से जिधर चलना चल दिया एक तरफ जाते जाते सात घर में घुमा जहां मिला मिला नहीं मिला तो वापस आ गया ऐसा होना सप्ताहाराम असंकृप्तान बिना संकल्प के भोजन लेना चाहिए संकल्प पूर्वक नहीं फोन करके जाना नहीं संकल्प नहीं कि वहां जाऊंगा वो बहुत अच्छा भोजन बनाता है पहले भी खाया था उसके घर में तो संकल्प करके गया वहीं तो। ये सन्यासी का नहीं होता हाँ ये सन्यासी का नहीं भिक्षा नहीं ऐसा है यदि धर्म समुच्चय में ऐसी बातें बहुत सारे हैं सन्यास धर्म के बारे में जानना हो यदि धर्म समुच्चय नामक पुस्तक है यति माने सन्यासी उसके धर्म का समुच्चय किया हुआ है स्मृतियों का उद्धर्म स्मृतियों का उद्धर्म देकर के रखा है सप्ताहारा असम कृप्तान इत्यादि नियम शौचारोच और शौचादि के बारे में भिक्षु के लिए नियम है सभी के लिए नियम है किंतु भिक्षु के लिए विशेष नियम है क्या है चतुर्गुण्यादि नियमश्च जितना गृहस्थ करता है उसके चार गुना अधिक शौचालय पवित्रता भिक्षु को चाहिए चातुर्गुण्यादि नियम प्रत्यवाय पर्यावरण नहीं करेगा तो पाप लगेगा उसको प्रत्यवाय लगेगा ईश्यते यथा ईश्यते जैसे स्वीकार किया जाता है माने भिक्षा के लिए नियम है और शौचादि के लिए नियम है किसके भिक्षु के जैसा है उसी प्रकार तथा यावत जीवादि श्रुति फलाद वो जो गृहस्थ में बैठा हुआ है साध्य साधन यशना से मुक्त व्यक्ति है उसको भी यावत जीवित अग्निहोत्र जुहुयात ऐसा वाक्य के बल आने से उसके लिए भी नियम होगा अग्निहोत्र करना होगा बाकी साध्य साधना यशना से मुक्त है हाँ, घर में बैठा हुआ है फिर भी करना पड़ेगा यही पूर्वाधिक करना तथा यावत जीवादि श्रुति बलात् यावत जीवित अग्निहोत्र याद ये श्रुति के बल से प्रत्यवाय परिहार पाप न लगे इसके लिए नित्य कर्म नियमे न प्रवृत्ति नित्य कर्म दी है उसको नियम तक करना पड़ेगा यही शंका है पूर्वादि का नियम तद अनुवादती उसकी अनुवाद करना चाहते हैं कहा शौचाद तो चातुर्गुण्य में तीन नंबर टिप्पणी है तथा धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र में कहा है एका लिंगे बुधे तिस्त्र तथा पाम करे दस वयो सतदा तव्य मृत शुद्धि अभिप्सता एकतम गृहस्थान द्विगुणम ब्रह्मचारिणाम त्रिगुणम च वनस्थान यदि नाम तो चतुर्गुणम देखो शौच होना माने पवित्र होना पवित्र होना है उसके लिए क्या करना होगा कहते हैं एका लेंगे जननेन्द्रिय उपस्थ में एक बार मिट्टी लगाए मिट्टी के बारे में है एका लेंगे गुदे तीसरा गुदा में तीन बार मिट्टी मिट्टी लगाए तथा वाम करे जैसे बाया हाथ में दस बार मिट्टी लगाए और उभयो सप्तदातव्य दोनों हाथ में सात बार लगाए क्या मृद शुद्धि में अभिषेदा शुद्धि चाहने वाली को मिट्टी इतना काम करना चाहिए एक बार उपस्थ में तीन बार गुदा में दस बार बाया हाथ में और दोनों हाथ में सात बार ये कहा यह शुद्धि किसके लिए बताए गृहस्थों के लिए ये तत् शौचम गृहस्था ये तब जो बताया गृहस्थ के लिए द्विगुणम ब्रह्मचारीणाम ब्रह्मचारी को इसको दुगुना करना चाहिए और त्रिगुणम च वनस्थान बानप्रस्थि को त्रिगुना करना चाहिए और यदि नाम तो चतुर्गुणम सन्यासी को चार गुना करना चाहिए ये बताया हुआ धर्मशास्त्र ने ये कहा अच्छा तो भाष्य में कहा था पूर्वादि की शंका थी शरीर धारण धारायाम भिक्षाटनादिशु प्रवृत्त हो यथा नियमो भिक्षु शौचाद जैसे शरीर धारण मात्र में प्रवृत्त हुआ जो भिक्षु है उसके लिए भिक्षा में नियम है भिक्षाटन के द्वारा ही वृत्ति आर्जन करे अन्य काम न करे और दूसरा शौचादि के बारे में नियम है ठीक इसी प्रकार तथा गृहिणी गृही है गृहस्थ है घर में है होने पर भी विदुष अकामिना कामना रहित है साध्य साधन भाव ये से मुक्त है ऐसा व्यक्ति है अस्तु नित्य कर्म सु नियम में प्रवृत्ति नित्य कर्म में उसकी प्रवृत्ति हो यावत जीवाद स्मृति नियुक्त यावत जीवित अग्निकुंज तो स्मृति से नियुक्त है वो प्रेरित है प्रतिभा परिहार है उसमें प्रतिभा लगना नहीं करेगा तो कहा तब सिद्धांत कहते हैं ये तन योगा विषय क्यों विदुषा प्रत्युक्तम असत्य नियोगत्वाचका ये जो विद्वत संन्यासी के लिए न शौच के बारे में नियम लगेगा न भिक्षाटन आदि के बारे में नियम लगेगा उसके लिए नियम ये जो नियम है विविधिशु सन्यासी के लिए विद्वत संन्यास का नियम नहीं ये कहा टीका से देखेंगे अपूर्वता एवं गृह अवस्थानम पूर्व मत संगतम ये जो पूर्व में भी इसी प्रकार की संज्ञा उठाई यहां भी इसी प्रकार का है पूर्व मत में क्या था कुछ भी न करता हुआ घर में रहना ये शंका थी घर में ही रहे ऐसी शंका थी पहले वाली अब कहना चाहते हैं अश्विन मत अब की बार क्या है विशेष तो अग्निहोत्र आदि अनुष्ठान में घर में ही रहे और अग्निहोत्र आदि भी करे ये शंका विशेष है है वही पूर्व की बातें हैं उसमें विशेष लगा अग्निहोत्रादि भी करे ये शंका है ये शंका तथा पूर्वम परिग्रह व्यावृत अर्थो भिक्षाटनादि विषय और वहां पर इसके सन्यासी के लिए था क्या था पहले एक ही नियम था भिक्षाटनादि करना है परिग्रह व्यावृत्ति के लिए दृष्ट शरीर धारण प्रयोजन नियम दृष्टान्त न होता दृष्टान्त सन्यासी का दिया था भिक्षुक का दृष्ट जो देखा गया शरीर धारण उसके लिए भिक्षाटनादि करना दृष्टांत दिया था और यहां तो यह तो सब भिक्षाटनादिगत भिक्षाटनादि को नियम लगा दिया क्या नियम लगाए सप्तागारान आदि सात घर में करना असंकृतान बिना संकल्प किए जाना वहां वहां जाऊंगा करके उद्देश्य नहीं बनाना संकल्प नहीं लेना ऐसा ये विशेष नियम यहां भी है ये कहा यह तो सप्ताह गारत्वादि विषय अदृष्टाप हो यह अदृष्ट के लिए है सात घरों में भिक्षा लेने पर अदृष्ट पैदा होगा संस्कार एक बनेगा वो तो पेट भरना है कहीं से भी कर सकता है किंतु सात घरों में मांग के खाए बिना संकल्प का लिए आए उसका एक अदृष्ट बनेगा विशेष जैसे अग्निहोत्र करने से उसका अदृष्ट बनना है वैसे यहां भी है दृष्टान्त रूप से दूसरा यदि सिद्धांत दोष देते हैं ये तत् कहा ये तत् नियोग तो ये ये कानून नहीं लगने वाला ये नियोग का विषय है शास्त्र इसे नियंत्रण नहीं कर सकता किसी विद्वत सन्यासी को ठीक है हम कहते हैं तस्य सर्वनियोक्त्री ईश्वरात्मत्वाच्य तस्य माने विदुषा वो जो ज्ञानी है वो सबका नियोक्ता जो ईश्वर है तदभाव में पहुंचा हुआ है सबका नियंत्रण करने वाला जो ईश्वर तदभाव अहम ब्रह्माष्टमी में हो तो शरीर भाव में नहीं हो विद्वत सन्यासी सर्वनियोक्त्री जो सबका नियोक्ता है ईश्वर आत्मत्व ईश्वर भाव में है वो ये पहले बता दिया था इसी अवतरण भाष्य में नवम पृष्ठ नव पृष्ठ में बताया था न तुम उसको नियंत्रण करना संभव नहीं है तुम्हें भिक्षाटन आदि करना पड़ेगा श्रुति नियंत्रण नहीं कर सकती है शौचादि के विषय में भी नियंत्रण नहीं कर सकती है हाँ यथे फिर यथेचाचारी होगा वो एक शंका उसके उत्तर आगे देंगे यथेष्ट आचार वाला होता कि नहीं होता है वो आगे विचार करेंगे किंतु उसको नियम नहीं लगा सकता कोई किंतु इतने मात्र से नियम नहीं लगा सकता तो जो मन में आयुष वही करे ऐसा भी नहीं मन में आएगा ही नहीं उसके पहले जो सुलझा सुलझी हुई अवस्था थी उसकी यहां आने से पहले विद्वत संन्यास सन्यासी होने से पहले अवस्था इतनी सुलझी हुई शुद्धि अवस्था थी तो पहले वो भिक्षा प्रणादि करता था अभी वो ही करेगा करने तो पहले जैसे शौचादि का नियम करता था वो संस्कार है करेगा वही करेगा किंतु अभी नियम नहीं कर सकता पहले नियम था उसके लिए अब नियम नहीं लागू नहीं होगा किंतु करेगा तो वही संस्कार वही उसके पास पहले मंदिर में जाता था अभी मंदिर में जाएगा कहां जाएगा अभी उत्सृंखल स्वभाव नहीं हो सकता उसका संस्कार के वशीभूत होता है शब्द तो उत्तर देंगे आगे आगे है मैं कहते हैं तरी तत्श्रुते अप्राह्मण्य भिक्षाटनादि नियम विधेयर भी तत्स्यात अभिप्रायण संकते कहते हैं महाराज अग्निहोत्र आदि श्रुति उसके लिए जब काम नहीं करती है अप्रामाण्य है यावत जीवादि श्रुति अप्रामाण्य है तो उस स्थिति में भिक्षाटन आदि नियम भी देगा भिक्षाटन का नियम तो सन्यासी के लिए बताया गया वो भी तो अप्रामाण्य होगा वहां कैसे प्रमाण मानेंगे आप जब यावाज जीवादी श्रुति प्रमाण नहीं है यावाज जीवादी श्रुति होने पर भी वो नहीं करता है अग्निहोत्र नहीं करता है उसी प्रकार भिक्षाटन विधि भी पक्षात अप्रामाण्य शंका थे इसी अभिप्राय से शंका करता है पूर्वादि की शंका है भाष्य में यावत जीवादि नित्य चोदना अनर्थक्यम से अभी ऐसा हो उसको श्रुति नियंत्रण नहीं कर सकती है उस विद्वान को तो यावत जीवादि श्रुति के जो प्रेरणा है वो अनर्थक हो जाएगा क्योंकि यावत जीवित का ये नहीं कर रहा अग्निहोत्र ऐसी स्थिति में वो श्रुति अप्रामाणिक हो जाएगी ये कहा सिद्धांत का न अविद्वत विषयत्व अर्थवत्वा वो यावत जीवादि श्रुति अज्ञानी के विषय में चरितार्थ हो जाएगी जब तक ज्ञान नहीं हुआ आत्मज्ञान नहीं है तब तक करेगा वो जब तक मैं मनुष्य हूं हम्म। ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं जब जाति धर्म विशिष्ट आश्रम धर्म विशिष्ट अपने को मानता है तब तक अज्ञानी है तो अग्निहोत्र करेगा वो भी चरितार्थ है अप्रामाणिक नहीं है ये कहा अभ्युद्वत विषय अर्थवत्वाद अज्ञानी को विषय लेकर के और यावत जीवित अग्निहोत्र जुहुयात श्रुति चरितार्थ हो जाती है पूर्वादि ने कहा था यद तो भिक्षु शरीर धारण मात्र प्रवृत्त से प्रवृत्ति नियतत्व नियम विधि बताया था भिक्षु का एक नियम विधि क्या था शरीर मात्र धारण के लिए प्रवृत्त हुआ भिक्षु का उस प्रवृत्ति में नियम विधि है नियम विधि क्या है भिक्षाटना दिना एवं वृत्ति कुरिया भिक्षाटन के द्वारा ही जीवन निर्वाह करे प्रकारांतर से न करे ऐसा नियम है उसके लिए जो कहा था तत्प्रवृत्ति न प्रयोजकम सिद्धांत कहते हैं वो प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं है उन्हें जो भिक्षाटन करके जीवन यापन करना उस भिक्षाटन के प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं होगा ज्ञानी का क्यों नहीं है आचमन प्रवृत्त पिपाशा अवगमवत अन्य प्रयोजनार्थ न अन्य प्रयोजनार्थम अवगम्यते कहते हैं जैसे उसके प्रयोजन की प्रवृत्ति के प्रयोजन वो नहीं है भिक्षाटन करना उसका प्रयोजन क्या है शरीर धारण करना वो प्रयोजन है वो प्रवृत्ति का प्रयोजन भिक्षाटन करना नहीं है शरीर धारण करना प्रयोजन है क्यों जैसे देखो देखा है आचमन में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति शास्त्रों में कुछ कर्म करना आचमन करना आचम्य प्राणाम्य ऐसे बोलते हैं पहले आचमन करो बोलते हैं ओम केशवाय नम माधवाय नम गोविंदाय नम इत्यादि बोलते हैं आचमन करते हैं तो आचमन में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति का आचमन के आचमन के बहाने प्यास बुझ जाता है दूसरी क्रिया हो जाती है किंतु वह प्यास बुझाने में तात्पर्य नहीं है आचमन में तात्पर्य है ठीक इसी प्रकार वो जो भिक्षा करने की जो प्रवृत्ति है शरीर धारण में तात्पर्य है ये कहना चाहते हैं आचमन प्रवृत्त पुरुष से जो आचमन में प्रवृत्त हुआ पुरुष है उसका पिपाशा भगवान पिपाशा भी शांत हो जाती है प्यास बुझ जाती है होने पर न अन्य प्रयोजनार्थ क्यों गमते वो जो अन्य प्रयोजन के लिए वो जल का प्रयोग हुआ नहीं मान सकते हैं केवल आचमन के लिए हुआ किंतु साथ में हो जाता है ऐसा हो जाता है उसको अन्य प्रयोजन नहीं मान सकते यहां भी भिक्षाटन के लिए माने प्रवृत्ति जो हो रही है वो प्रवृत्ति को हम उसको नहीं प्रवृत्ति का प्रयोजक नहीं मान सकते नियम जो बनाया हुआ है ये कहा इस प्रकार अग्निहोत्र में नहीं है अग्निहोत्र में नहीं है इसलिए अग्निहोत्र नहीं करता भिक्षाटन तो करेगा किंतु अग्निहोत्र नहीं कर सकता अग्निहोत्र इसलिए नहीं करेगा न तो अग्निहोत्र आदि नाम तद्वत अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति अग्निहोत्र में अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति नहीं है वो तो विधि वाक्य से ही प्रवृत्ति है माने यहां पर जो वृक्षाटन आदि का नियम बताया गया यहां पर नियम विधि है और अग्निहोत्र में उत्पत्ति विधि है विधि अत्यंत अप्राप्त नियम पाक्षिके सती तत्र नेत्र प्राप्त परिसंख्य किए थे तीन प्रकार की विधि मानते हैं किसी अन्य प्रकार से प्राप्त न हो उस स्थिति में कोई वाक्य आए उसको उत्पत्ति विधि मानते हैं वो विधि है वो जैसे अग्निहोत्र जुहिया किसी अन्य से प्राप्त नहीं होगा किंतु यहां पर भिक्षाटन के द्वारा भी जीविका कर, पालन कर सकता है अन्य प्रकार से भी कर सकता है इसलिए में नियम बनाया गया भिक्षाटन के द्वारा ही जीवन निर्वाह करे अन्य प्रकार से करे ये नियम नहीं है अन्य से भी प्राप्त हो इससे भी प्राप्त हो इसी से करना अन्य से नहीं करना ये नियम नहीं है यहां और वहां एक जैसा नहीं है ये कहना चाहते हैं न तो अग्निहोत्रादि नाम तद्वत अर्थ प्राप्त प्रवृत्ति तत्वोपत्ति अर्थ से प्राप्त नहीं वहां तो शब्द से ही प्राप्त है शास्त्र से ही प्राप्त है अग्निहोत्र इसी वाक्य से प्राप्त है अन्य किसी से प्राप्त नहीं टीका टीका से स्पष्ट हो जाएगा टीका से देखें अभिदिशु नियोज्य तत्प्राम ने घटित नोटोष पूर्वादि ने कहा था जब ऐसी स्थिति विद्वान कर्म नहीं करता है तो यावत जीवादि श्रुति व्यर्थ हो जाएगी अप्रामाणिक को कहा नहीं अज्ञानी में चरितार्थ हो जाएगी अभिनिशो नियोज्य जो शास्त्र का नियुक्त शास्त्र के द्वारा नियुक्ति जिसकी होती है नियोज्य होता है जो व्यक्ति उसमें तत् प्रामाण्यम यावत जीवाद होती प्रामाण्य हो जाएगा तो यदि न उत्तर दोष दोष नहीं आएगा अप्रामाण्य दोष नहीं आएगा ये उत्तर दिया न इत्यादि कहा तब उक्त प्रतिबंध में परिहर्तुम अनुबंधित पूर्वादि एक प्रतिबंधी दोष दिया था एकाएक सामने वाले को मुख बंद कर देना यह प्रतिबंधी दोष होता है भविष्य में जैसा होगा होगा एक बार उसका मुख चुप करने लगा सिद्धांति का मुख चुप करने लगा कि कहा था जैसे केवल देह धारण मात्र के लिए प्रवृत्त जो सन्यासी है उसके लिए भी नियम देखा गया भिक्षाटन के द्वारा ही वृत्ति आर्जन करे और शौचादि का नियम देखा उसी प्रकार घर में रह रहा है व्यक्ति साध्य साधन यशांति विमुक्त है रहित है ऐसे व्यक्ति है फिर भी उसके लिए यावत जीवित अग्निहोत्र इस वाक्य के कारण ये होगा अग्निहोत्र करना पड़ेगा जैसे उसके लिए नियम है उस इसके लिए भी नियम होगा ये कहा था ये प्रतिबंधी उत्तर है प्रतिबंधी जो कहा था उसने प्रतिबंधी कहा था उसका उत्तर देना चाहते हैं यानी सिद्धांति का मुख बंद करना चाहते हैं जैसे आपके यहाँ भिक्षुक जो होगा वह भिक्षाटन के द्वारा ही जीवन चलाएगा एक नियम है उसके लिए तो भिक्षुक है वो और दूसरी बात है शौचालय के बारे में विशेष ध्यान रखना होगा उसको ठीक इसी प्रकार घर में ही है साध्य साधारण से मुक्त है ऐसा व्यक्ति है तो वो अग्निहोत्र जुहियात ये वाक्य आया है यावत जीवित अग्नि जुहियात कारण से अग्निहोत्र करता रहेगा ये जो कहा था इसका परिहार करने के लिए अनुवाद करते हैं कहा तदुक्त प्रतिबंध उसके द्वारा कहा गया पूर्वाजी के द्वारा कहा गया जो प्रतिबंधी वाक्य था उसका उत्तर देना चाहते हैं परिहार करने के लिए अनुवाद करते हैं कहा दो और तीन की टिप्पणी में कहा दो शरीर धारणार्थ आयाम इत्यादि ना पूर्व पृष्ठ में कहा था जैसे सन्यासी शरीर धारण मात्र के लिए भिक्षाटन आदि करता है शौचादि का नियम है इसी प्रकार घर में रहने वाले के नियम है क्या नियम है अग्निहोत्र कर ये कहा था पूर्व पक्षी कहा पूर्व पक्ष ने कहा हुआ था पर्याप्तम प्रकारांतरण बोध्यम प्रयुक्तम प्रत्युत्तम पूर्वम यहाँ प्रकारांतर से बदलाना है पहले भी कहा था कि प्रत्युत्तम शब्द पहले भी दिया है खंडित हो गया बोल दिया है फिर अभी क्यों कहना अन्य प्रकार से कहना चाहते हैं प्रकारांतर से बताना चाहते हैं ये कहा कैसे यत्तु करके भाषण में यत्तु भिक्षु शरीर धारण मात्र प्रवृत्त से प्रवृत्ति यथत्वम जो भिक्षु के लिए कहा था शरीर धारण मात्र के लिए प्रवृत्त भिक्षु का प्रवृत्ति में जो नियतता है माने नियम विधि है हाँ, जो नियम विधि है हाँ, वो पूर्वादि ने कहा था नियम विधि कहते हैं न प्रवृत्ति प्रयोजक वो प्रवृत्ति का प्रयोजक नियम विधि नहीं है वो वो तो स्वाभाविक हो गया है अन्य अन्य कारण से है कैसे हुआ कहते वो तो अन्य स्वतः ही हो गया माने क्षुदा निवृत्ति के लिए गया हुआ था उसके प्रवृत्ति हो गई क्षुदा निवृत्ति के लिए उसमें शास्त्र ने कहा इसी के लिए नहीं है ये कहना चाहते हैं टीका में कहते हैं आचमन विधि ना आचामेत सूत्र वाक्य आता है आचमन करे आचमन विधि है आचामेत ऐसा वाक्य आएगा आचमन करे कोई भी कार्य करने के पहले आचामेत आता आचमन करे आचमन का अर्थ तो खाना होता है समूह अदन धातु से आत्मन बनता है खाना पीना नहीं होता आत्मन मन खाना होता है संस्कृत के हिसाब से चमू अदन धातु है पाने चमू पाने धातु नहीं चमू अदन धातु है ऐसा होता है इसलिए किसी किसी भाषा में खाना बोलते हैं पानी को खाना बोलते हैं चमू अदन धातु का रूप होता है आचा में ऐसा वाक्य आता है आचमन विधि ना आचारे तो ऐसा विधि वाक्य आया विधि के द्वारा आचमने प्रवृत्त जो आत्मन में प्रवृत्त हुआ व्यक्ति है वाक्य आया आत्मन करे तो सुना तो प्रवृत्ति हो गई उसकी आचमन करने के लिए प्रवृत्त हुआ व्यक्ति का आर्थिक हो जो पिपाशा हुआ जो प्यास बुझता है आर्थिक है पानी मान प्यास बुझाए ऐसा वाक्य तो है ही नहीं आचमन करे वाक्य आया था क्योंकि उस वाक्य सुन करके आचमन में लग गया तो आत्मन करने से प्यास भी तो बुझेगा ही जैसे अर्थ से आता है प्यास का अपगम माने नाश होना प्यास का शांत होना आर्थिक है शाब्दिक नहीं है शाब्दिक तो आत्मन है वो आर्थिक होता है तस्य यथा मां अन्य प्रयोजनार्थत्व वो अन्य प्रयोजन के लिए नहीं होता है वो माने वहां पिपाशा बुझाने के प्रयोजन नहीं होता आचार्य वाक्य का मां अन्य प्रयोजन मां अलग है अन्य प्रयोजन अलग है मां निषेध अन्य प्रयोजन के लिए नहीं होता प्रयुक्ति अन्य प्रयोग में प्रयोग वो वाक्य का नहीं होता तदर्थत्व बा तदर्थत्व उसी के लिए होता है न आत्मन प्रवृत्ति प्रयोग पिपाशा बुझाने के हिसाब से भी आत्मन में प्रवृत्ति नहीं हुई है पिपाशा बुझाने के उद्देश्य करके आत्मन में प्रवृत्ति भी नहीं है वो तो बाकी आया था आचा में अन्य अर्थ भी नहीं जाता आचमन करना ही अर्थ आएगा पिपाशा बुझाने में तात्पर्य भी नहीं है किंतु पिपाशा बुझ जाती है ठीक इसी प्रकार बोला जाते हैं ये तो हाँ। तद्वत उसी प्रकार जीवनार्थम भिक्षादो प्रवृत्त है किसके लिए भिक्षादि में प्रवृत्त है भिक्षु जीवन के लिए जीवन रक्षा के लिए भिक्षा मांगने के जा रहा है तद्वत जीवनार्थम भिक्षादो प्रवृत्त यह तत्र नियम जीवन के लिए जीवन रक्षा के लिए भिक्षादि में प्रवृत्त जो सन्यासी है उसका तत्र यह नियम जो नियम होगा उसमें भिक्षा में जो नियम होगा ठीक है माने भिक्षादिना वृत्ति कुरियात इत्यादि नियम होगा स न भिक्षादि वृत्ति प्रयोजक भिक्षादि वृत्ति का प्रयोजक नहीं होगा नियम वो तो जीवन धारण के लिए है वो भिक्षादि वृत्ति के लिए नहीं है यानी कि भिक्षा ही करना उसका कोई नियम नहीं जिस दिन खाने की इच्छा हो उस दिन जाएगा नियम हो तो नहीं जाएगा कोई नियम हो नित्य कर्म जैसा नहीं हो भूख नहीं लगे तो क्यों जाएगा भिक्षा करने के लिए यदि भूख लगी भूख से पीड़ित है भिक्षा करने चला जाएगा नित्य कर्म जैसा नहीं हो प्रयोजित है अच्छा ठीक है मैं आज कहते ये तो उत्तम होती है कहा हुआ होता है कि नियोज्यत्वाभावात किल ब्रह्म विदो नियम विधि अनुपत्ति आशंकत एक शंका की जाती है पूर्वादि की ओर से कि नियोज्य नहीं होता ब्रह्मवेत्ता शास्त्र उसको नियंत्रण नहीं कर सकता जो शास्त्र भी बनाने वाला जो ईश्वर है उसके साथ एकता हो चुकी है इसकी सबका नियोक्ता जो ईश्वर है उसके साथ एकांत भाव है इसलिए नियोज्यत्वाभाव नियोज्य न होने के कारण से किला ब्रह्म विधो नियम विधि अनुपति ब्रह्मवेत्ता के लिए नियम विधि हो नहीं सकती है नियम विधि भिक्षाटन के द्वारा ही करे कैसा ये शंका की जाती है कि तन नहीं उच्चते वो ठीक नहीं नियम विधि हो सकती है नियोज्य न होने पर भी नियम विधि होती है सिद्धांत बोलते कैसे अथम पूर्वादि ने शंका की कैसे नियोज्य न होने पर भी नियम कैसे लगेगा उसको नियम विधि कैसे भिक्षाटन आदि मृत्यु कुरियादि नियम कैसे लगेगा तब कहते नियोज्यो ही नियोग सिद्ध्यर्थम अपेक्षित नियोग किसके लिए होता है वेद वाक्य ये करे वो करे जो वाक्य आएगा ये जता आएगा किसके लिए नियोज्य के नियोग सिद्ध्यर्थम नियोज्य अपेक्षक है नियोज्य किसके लिए होता है नियोग की सिद्धि के लिए नियोज्य की आवश्यकता है ये वाक्य आएगा जेता यदि याद करने वाला नहीं होगा तो वाक्य अप्रामाणिक हो जाएगा नियोग जो होता है नियोग सिद्धि के लिए नियोज्य की आवश्यकता है नियोज्य नहीं होगा तो नियोग की सिद्धि नहीं होगी नियोग ही योग सिद्धार्थम अपने नियोज्य इसलिए होता है नियोग की सिद्धि के लिए उस वाक्य की प्रामाणिक करने के लिए नियोज्य की आवश्यकता है और नियोग से प्रवृत्ति और नियोग की उसके लिए प्रवृत्ति कराने के लिए सुनने बाद प्रवृत्ति होगी इसलिए नियोग से प्रवृत्ति प्रवृत्ति अन्यथा सिद्धा क्यों नियोग है उसमें यदि प्रवृत्ति अन्य प्रकार से सिद्ध हो गई हो तो नियोग करने से क्या आवश्यकता या इसको नियोग करने की आवश्यकता है प्रवृत्ति अन्य प्रकार से सिद्ध है ज्ञानी का किससे क्षुदादि के द्वारा इसके प्रवृत्ति उसके अन्य प्रकार से है प्रवृत्ति अन्य प्रकार से सिद्ध है भूख लगती है तो प्रवृत्ति हो रही क्षुदा निवृत्ति के लिए उसके लिए नियम की आवश्यकता ही नहीं है नियोग क्या करेगा वहां ये कहा आगे कहते अतएव दर्श पूर्णमास नियोगादेव दर्श पूर्णमास अभ्यम भेजते नियोग वाक्य है दर्श या पूर्णमास या करे स्वर्ग काम हो दर्श पूर्णमास आप मिल जाता वियोग माने विदिलिंग जहां आया लोट आया तब आया वियोग बोलते हैं तो नियंत्रण करने वाला वाक्य अधिकारी को विषय में लगाने वाला वाक्य दर्श पूर्णमास नियोगाथ दर्श पूर्णमास वाक्य नियोग वाक्य है दर्श पूर्णमास अभ्यम एजते वाक्य आएगा नियोग होने से अवहन अवहन अवहनने नियमे नियमे न प्रवृत्ति कहते वहां पर अवहनने नियमे न प्रवृत्ति सिद्ध होगा वहां पर क्या होगा गृहण अभांति वाक्य आता है दर्श पूर्णमास याद करने के लिए पति पत्नी मिल करके धान कूटना पड़ता है ओखली में तो मिल के अक्षर ला करके एक करेगा तो फल नहीं मिलेगा अदृष्ट नहीं बनेगा आजकल इसलिए अदृष्ट नहीं बनता बृहण अवहंती धान कूटते हैं पति पत्नी ओखली में ऐसा है उसके द्वारा तंडुल निकाला जाए तो भी तंडुल निकालने के लिए कई साधन है नक्शे द्वारा भी निकाला जाएगा चावल पत्थर में घर्षण करके भी निकाला जाएगा और कूट करके भी निकाला जाएगा किंतु तो कूट करके ही निकालेंगे तो अदृष्ट बनेगा बाकी नख विदलन होगा नख से छिलेंगे चावल निकल जाएगा तुषा विमोचन तो हो जाएगा भूसा अलग हो जाएगा किंतु अदृष्ट नहीं होगा यज्ञ का फल नहीं मिलेगा गृहण अवहन की ऐसा आ जाए पति पत्नी मिल करके धान पूज रहे वही करने ये नियम भी दिया है माने अन्य प्रकार से जी तंडुल निकाला जाता था चावल बनाया जाता था किंतु कूट करके ही बनाना है कोई भी यजमान और यजमानी मिलकर बनाना है अन्य के द्वारा कुटाया हुआ नहीं होगा ऐसा आया है ये कहना दर्श पूर्णमास नियोग में आया अवहन अने माने अवघात करना कूटना कूटने में धान कूटने में नियम न प्रवृत्ति सिद्ध हो नियमता प्रवृत्ति सिद्ध है उनकी धान कूटेंगे पति पति मिलकर सिद्ध हो तत्र न प्रथम नियोग दर्श पूर्ण मास याद के द्वारा ही नियम सिद्ध हो गया फिर उसके लिए अलग से नियम नहीं बनाएंगे दानपूर्ति के लिए ये कहा हाँ तत्र सात में कहा छह में कहा तथा च बृहन अवहंती इत्यस्य नियम विधेयक न दर्श से नियोग अतिरिक्त नियोग अभी तो अंतर्भाव तथा तुम प्राय तथा बृहन अवहंती ये जो नियम विधि है माने धान कूटना है माने वो चावल अलग वितुषीकरण करना है भूसा को अलग करना है धान कूटना माने यही होता है चावल निकालना माने भूसा को अलग करना माने वितुषीकरण करना उसका नाम अर्थ होता है तो ये नक्शे भी किया जा सकता था पत्थर पे घर्षण करके भी किया जा सकता था कूट करके भी हो सकता है तो कूट करके ही करना वो भी यजमान यजमान में मिल करके ही करना तभी एक का अदृष्ट बनेगा उससे एक एक करेंगे तब अच्छा होगा फल होगा नहीं तो फल नहीं होगा ऐसा कहा हुआ है गृहण अवहंती ऐसा वाक्य आया है उसी दर्श प्रमास याग के लिए कहा है ये तो से नियम विधेयक नियम विधि है तब हाँ। माने नियम पाक्षिक सत्य अन्य प्रकार भी हो सकता था यही इसी प्रकार का था इसका नियम कहा वृणाबंदी आया नियम विधेयर न दर्श पूर्णमास अतिरिक्त नियोगत्म ये जो नियम विधि दिखाया वृणाबंदी दर्श पूर्णमास में भी नियोग है नी माने एजेता वाक्य है दर्श पूर्णमास वाम एजेता यहाँ गृहण अवंती में नियोग है तो ये गृहण अवंती का नियोग जो है दर्श पूर्णमास के नियोग से अतिरिक्त नहीं होगा उसी में मिल जाएगा एक ही होगा कहा अभी तो तद अंतर्भावेण दस मास याद के वियोग के वाक्य के साथ ही एक होकर तथा तम मान वियोग हो जाता है यह अभिप्राय है अच्छा पांच की छुट्टी हो जाए अच्छा दर्श प्रमास योगा अवगात निष्पन्न तंडुल द्रव्य द्रव्यकत्व अवधृत कर्म विशेष विषय विषयाद अवघात निष्पन्न तंडुल होना चाहिए कूट करके निकाला हुआ धान को अन्धातु से पर यहां अवघात बनाया हुआ अनस्तो अच्छा नीलो सूत्र लगा है कर्मणी है टूट करके निकाला हुआ अवघात निष्पन्न तंडुल द्रव्य तत्व अवघात के द्वारा हमारे फूट करके निकाला गया जो चावल है वो द्रव्य के द्वारा अवधृत कर्म विशेष निश्चित किया गया कर्म विशेष है कौन दर्श पूर्णवास यहां ये कहा ठीक है इसी प्रकार कहना चाहते हैं तद अभाव है तो नियोज्य अपेक्षा ये कहते हैं नियोग न होने पर नियोज्य की अपेक्षा भी नहीं होगी यदि नियोग नहीं है तो नियोज्य की अपेक्षा भी नहीं क्योंकि नियोज्य इसके लिए नियोग सिद्धि के लिए है जब नियोग ही नहीं है तो नियोज्य की अपेक्षा भी नहीं ये कहा ब्रह्मविदो नियोज्यता भावे भी न नियम विधि अनुपत्ति थी ब्रह्मविद्ता जो होता है नियोज्य नहीं होता है फिर भी नियम विधि रहेगी वहां ब्रह्मविद्ता किसी का नियोग का विषय नहीं है प्रेरणा का विषय नहीं है फिर भी नियम विधि है भिक्षाटनादिना एवं वृत्तिम क्रिया नियम विधि है हाँ, सात की टिप्पणी तो हाँ, सात में कहा न नियम विधि योग शून्यम तत्स्वरूप मात्रा मात्रम आर्थिक अर्थबोधकम न उपलब्धित योग शून्य है पर नियंत्रण कोई करेगा नहीं तो कोई वाक्य को फिर भी तत्स्वरूप मात्र उसके स्वरूप मात्र का आर्थिक अर्थ का बोधक है अर्थ से आने वाला अर्थ का बोधक होने से वो अर्थ रहेगा आगे कहते हैं अग्निहोत्रादि अस्तु अन्य तो असिद्धत्व अग्निहोत्रादि प्रवृत्ति अन्य से सिद्ध नहीं यहां पर क्या है क्षुदा के कारण से उसकी प्रवृत्ति हो जाती है भिक्षाटन के लिए ठीक है किंतु अग्निहोत्र आदि के लिए ऐसे अन्य नहीं एक ही उपाय है वो वेदवाक्य ही प्रमाण है उसके लिए और गोत्रम यावत जीवित अभिषेक जुबियात इत्यादि यही वाक्य प्रमाण है अन्य नहीं हो वो उत्पत्ति विधि में है वो और ये ज्ञानी के लिए जो भिक्षाटन आदि कहा ये नियम विधि है ये कहते हैं अग्निहोत्र आदि जो है वो तो प्रवृत्ति है तो अन्य तो असिद्ध अन्य किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं अन्य से सिद्ध नहीं वही वाक्य सिद्ध करेगा अग्निहोत्र जुहिया असिद्धत्व ना तद विधिता है वो जो विधि वाक्य है अग्निहोत्र जुहिया उसी से ही होता है तत्र प्रवृत्ति अग्निहोत्र प्रवृत्ति होने से वक्तव्य ऐसा कहने कहना होता है इसलिए तत्सिद्ध्यर्थम तत्र के बाद उसके सिद्धि के लिए नियोग की आवश्यकता है अग्निहोत्र सिद्धि के लिए नियोग पर तस् तत्र नियोज्य अपेक्षा उस अग्निहोत्र का वहां पर नियोज्य की अपेक्षा होगी उस वाक्य को वहां अग्निहोत्र में नियोज्य की अपेक्षा होगी यदि वैषम्यम ये और और वैषम्य है पूर्वादि ने दृष्टांत दिया जैसे उसके लिए नियम नियम वैसे इसके लिए नियम है ऐसा नहीं है वैषम्य आठ की टिप्पणी में कहा तथा च नोक्ता प्रतिबंधी उपदित पूर्वाज ने जो प्रतिबंध दिया था जैसे आपके यहाँ पर नियम है सन्यासी के लिए उसी प्रकार घर में रहते रहते साथ साधन से विघ्न मुक्त के लिए अग्निहोत्र करना चाहिए नियम होगा कहा ऐसा नहीं प्रतिबंधित नहीं रखेगा कहा समय हो गया है यह रखना कर ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची पश्यमाणे स्था श्रुतं मे मा प्रहाशीरणेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामा भवतु तद्वक्तार भवतु वक्तारम् भवतु वक्तारम् ॐ शान्ति